स्मरण करेंगे तीन बार ओम का उच्चारण ओ... प्रेमी सज्जनों जो इसको जानते हैं वो यहां पर रहा करें और अपने आप आपको देखना चाहिए कि कितनी आवाज है कम है उसको व्यवस्थित कर लो तो इसको अभी हटा दो हेडफोन वाला छोड़ दो बाद में व्यवस्थित होने पे करना उनको बता दो पहले से करना चाहिए आपको ये छोटा है उसको कहीं भी अड़ जाएगा ये चलो अभी रख अभी रहने तो बाद में व्यवस्था करना उसको धन प्रेमी सज्जनों अभिविनय के प्रथम प्रकाश का चालीसवां मंत्र आज स्वाध्याय में हमने पढ़ा महर्षि दयानंद कृत इसकी व्याख्या भी देखी ये मंत्र परमात्मा की स्तुति के रूप में है वेद मंत्रों में परमात्मा की ही सर्वाधिक स्तुति की गई है बार बार उसकी स्तुति की गई है इस मंत्र में भी परमात्मा हमें आदेश दे रहा है तम ईड़ता उसकी स्तुति करो और संबोधन किया किनको विषय विष मनुष्य के नाम में पढ़ा गया है निघंटू में हे मनुष्य तम ईड़ता उस परमात्मा की स्तुति करो इससे क्या होगा आरी उसको प्राप्त हो गमनार्थक री धातु है प्राप्ति अर्थ भी उसका होता है उस परमात्मा की स्तुति करो और प्राप्त हो स्तुति का प्रयोजन ही यही होता है स्तुति करके हमारे मन में उस वस्तु के प्रति जिसकी भी स्तुति करते हैं प्रीति बढ़ती है और प्रीति बढ़ती है हम उसे पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए प्रयत्न करते हैं तम ईड़ता हे विषय मनुष्य तम ईडता और आरी और उसको प्राप्त हो तम उसको किसको इसकी स्तुति करें और किसको प्राप्त करें इस प्रश्न का उत्तर इसकी व्याख्या मंत्र के बाकी शब्दों के द्वारा की गई है उस परमात्मा की स्तुति करें उस परमात्मा को प्राप्त करें जो जिसको देवा दूसरी पंक्ति में है देवलोक ये आदेश दिया जा रहा है निर्देश दिया जा रहा है मनुष्यों को कि तुम स्तुति करो उसकी किसकी जिसको देवलोक देवा ये थोड़ा गूंज रहा है देवा देवलोक धारयन जिसका धारण करते हैं जिसको धारित करते हैं जिसको देवलोक धारण करते हैं उसकी तुम स्तुति करो और उसको प्राप्त हो देवलोक जिसको ओम देवलोक जिसको धारण करते हैं धारण करने का मतलब है देवताओं ने जिसको प्राप्त किया है हम प्राप्त करके ही उसको धारण करते हैं तो देवताओं ने जिसको धारण किया है हे मनुष्यों उसकी स्तुति करो और उसको प्राप्त हो और जब मनुष्य भी उसको प्राप्त कर लेगा वो भी उसको धारण करेगा वो भी देवत्व को प्राप्त करेगा देवता बनेगा अब वो कौन है और कैसा है उसके लिए बहुत सारे शब्द विशेषण इस मंत्र में दिए गए हैं तो तम प्रथम संसार का समस्त जगत का मूल कारण है आदि कारण है महर्षि ने उसको खोला सब कार्यों से पहले वर्तमान और सबका आदि कारण है कार्य का मतलब है जो उत्पन्न चीजें हैं कार्य का एक अर्थ होता है कर्म हम कार्य करते हैं काम करते हैं या कार्य का अधिक संगत अर्थ है कि कार्य जगत जो उत्पन्न हुआ है तो जो सब कार्यों से पहले वर्तमान था अर्थात इस सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले भी जो विद्यमान था दूसरे शब्दों में जो कभी उत्पन्न नहीं होता पहले से विद्यमान है और सबका आदि कारण है जो ये उत्पन्न हुई चीजें हैं जो सारा कार्य जगत है उसका आदि कारण वो है मूल कारण वो है अन्य भी बहुत से कारण हैं उनके प्रकृति भी उनका कारण है जीवात्माओं के कर्म भी उसका कारण है जीवात्मा के लिए कार्य जगत बना है जीवात्मा भी एक कारण है किंतु आदि कारण और मूल कारण जो है वो कौन है वो परमात्मा है तो प्रथमम जो सबसे पहले विद्यमान था समस्त कार्य से पहले और जो सबका आदि कारण है दूसरा विशेषण दिया कि किसकी स्तुति करें और किसको प्राप्त होवे तो कहा यज्ञ साधम जो यज्ञ को सिद्ध करने वाला है महर्षि लिखते हैं सब संसार और विज्ञान आदि यज्ञ का साधक सिद्ध करने वाला सबका जनक यहां पर संसार को भी यज्ञ के रूप में लिया गया है सब संसार का और विज्ञान आदि यज्ञ का ज्ञान विज्ञान जितना भी है वो जो प्राप्त किया जाता है वो भी एक यज्ञ रूप ही है ये सृष्टि भी एक यज्ञ ही चल रहा है तो उस सब का जो साधक है सिद्ध करने वाला है इस सारे संसार को सिद्ध करने वाला जो है और जितना भी ज्ञान विज्ञान है उसको भी जो सिद्ध करने वाला है प्राप्त कराने वाला है वह परमात्मा इसको दूसरे शब्दों में महर्षि ने खोला जो सबका जनक है इस संसार का और विज्ञान आदि समस्त चीजों का भावात्मक वस्तुओं का भी अमूर्त वस्तुओं का भी जो जनक है इस संसार की वस्तुएं तो मूर्त हैं लेकिन विज्ञान आदि जो चीजें हैं वो अमूर्त हैं उनका भी जनक उत्पादक साधयिता साधन करने वाला सिद्ध करने वाला वो परमात्मा है ऐसे उस परमात्मा को तो प्रथमम यज्ञ साधम आहुतम जो कि सब ओर से समस्त दिशाओं से पूरी ओर से पुकारा गया है आहूत है जिसको हम शब्द से बोलते हैं ऐसा वो जब जब हमारे को न्यूनता होती है हम अपने से बड़े को पुकारते हैं और संसार में जिन बड़ों को हम पुकारते हैं एक सीमा के बाद में वो भी असमर्थ प्रतीत होते हैं ये नहीं कर सकते इससे अधिक सहायता ये नहीं कर सकते वहां भी उन स्थितियों में भी हम जिसको पुकारते हैं सब स्थितियों में अंततः जो पुकारा जाता है विद्वानों के द्वारा जानकार लोगों के द्वारा ऐसा वो परमात्मा आहुतम महर्षि ने उसके लिए लिखा कि जिसको अपने दीनता से कहते हैं हम दूसरे को सहायता के लिए जब पुकारते हैं उस समय हम दीन अवस्था में होते हैं हम अपने को कम अनुभव करते हैं जो अपने को दीन अनुभव नहीं करता वो दूसरे को नहीं पुकारेगा असमर्थ अनुभव नहीं करता वो दूसरे को नहीं पुकारेगा प्रार्थना के रूप में जब हम पुकारते हैं किसी को निवेदन जब करते हैं विनम्रता से जब पुकारते हैं तब हम दीन अवस्था में होते हैं हम सहायता चाहते हैं दूसरे की तो जिसको हम दीनता से पुकारते हैं असमर्थ होकर के और उसको समर्थ मान के पुकारते हैं वो आगे एक विशेषण और दिया रिंजसानम महर्षि उसका अर्थ करते हैं विद्व विज्ञान आदि से विद्वान लोग सिद्ध करते हैं जिसको जो पहले लिखा है वो यहां लेंगे वाक्य था जिसको अपने दीनता से कहते हैं फिर अल्प विराम है विज्ञान आदि से ये जो आगे वाक्य है तो जिसको को यहां जोड़ेंगे जिसको विज्ञान आदि से विद्वान लोग सिद्ध करते हैं और जानते हैं रिंज धातु जो है वो संसिद्धि अर्थ के अंदर है रिंजति प्रसाद नोति प्रसादति कर्मा निरुक्त के अंदर प्रसाधन कर्मा रिंजति प्रसाधन कर्मा रिंजति प्रसाद नोती इस अर्थ में प्रयुक्त है रिंजती शब्द रिंज शब्द पद के नाम से भी है वैसे लेकिन यहां पर प्रसाधन अर्थ के अंदर है सिद्ध करने अर्थ में है और उससे सान प्रत्यय औणातिक जोड़ के बना तो जिसको विद्वान विज्ञान आदि से सिद्ध करते हैं परमात्मा को सिद्ध किया जाएगा तो विज्ञान आदि से ही सिद्ध किया जाएगा विज्ञान एक अमूर्त वस्तु है तो दूसरे शब्दों में हम इसको देखें तो ये निकल के आएगा कि परमात्मा को मूर्त वस्तुओं से सिद्ध नहीं किया जा सकता मूर्त वस्तुएं उसकी प्राप्ति में परोक्ष साधन तो बनती हैं लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में सीधा जो साधन है वो विज्ञान है ज्ञान है विवेक है तो विद्वान लोग विज्ञान आदि से जिसको सिद्ध करते हैं और जानते हैं ऐसे उस परमात्मा को दूसरी पंक्ति में कहा ऊर्जा पुत्रम ऊर्ज शब्द ऊर्ख शब्द अन्न के नाम में पढ़ा गया है निरुक्त में अन्न अर्थात जिससे हमारा प्राणन होता है प्रीणन होता है हमारा जीवन चलता है इसलिए अन्न आदि जो हम खाते हैं जिसको सेवन करते हैं उससे हमारा जीवन चलता है उसे अन्न कहते हैं महर्षि ने इसको व्यापक रूप से लिखा है पृथ्व्यादि जगत रूप अन्न का ये पृथ्वी आदि जो जगत है इसको भी अन्न शब्द से कहा क्योंकि इससे भी हमारा जीवन चलता है अर्थात यहां ऊर्जा से समस्त उन चीजों का ग्रहण किया महर्षि ने जिनसे हमारा जीवन चलता है जो हमारे जीवन को चलाने में सहायक है तो उस ऊर्जा ऊर्ज का ऊर्क का अन्न का जो पुत्रम पुत्र है पुत्र का मतलब महर्षि ने खोल दिया पालन करने वाला पुत्र अपने पिता माता का बड़ों का पालन करने वाला होता है उनकी रक्षा करने वाला होता है उनका त्राण करने वाला होता है तो इन समस्त अन्न का जो पालन करने वाला है यदि वेदादि का उपदेश ना हो तो एक मनुष्य उन्हीं वस्तुओं तक केंद्रित रहेगा जिनसे उसको लाभ मिल रहा है जिनसे उसका जीवन चल रहा है वो जल को का महत्व तो समझेगा वृक्षादि का महत्व तो समझेगा सूर्य का महत्व तो समझेगा इतने तक व्यक्ति अपने व्यवहार से भी जानता है इससे मुझे ये लाभ हो रहा है इससे मेरा जीवन चल रहा है लेकिन यहां आर्यों को यह कहा जा रहा है ये जितनी प्राण वस्तुएं हैं जिनसे हमें अपना जीवन चलता हुआ दिखता है उस सब का भी जो पुत्र है उस सब को भी जो पालन कर रहा है अर्थात इस सब के पीछे भी जो छुपा हुआ है इस सब के पीछे भी जिसकी सहायता हमें परोक्ष रूप से प्राप्त हो रही है उस परमात्मा को ऊर्जा पुत्रम जो इन सब का पालन करने वाला है और भरतम जो इनका पोषण करता है इनको धारण करता है इनको पुष्ट करता रहता है जो जो चीजें हमें अन्न के रूप में दिखाई देती हैं हमारा जीवन चलाने के रूप में दिखाई देती हैं उन सबको वो परमात्मा सतत पुष्ट भी करता है वो इन सबका आदि भी है इनका उत्पन्न करने वाला भी है और इनका पोषक भी है इनका रक्षक भी है ये सारी चीजें उसी के आधार पर चल रही हैं ऐसे उस परमात्मा को अगला विशेषण दिया श्रीप्रदानुम एक तो श्रीप्र शब्द है एक है दानुम उन दोनों को मिलाकर के भी ये शब्द है और एक साथ भी है महर्षि ने जैसा अर्थ किया सब जगत को चलाने की शक्ति पुष्टि देने वाला श्रीप्र ये गत्यर्थक धातु से बनता है तो सुमहर्षि ने क्या लिखा सब जगत को चलाने की शक्ति देने वाला ये संसार जगत है गतिशील है इसको भी जो गति प्रदान करता है शक्ति प्रदान करता है उस परमात्मा को और श्रीप्र चूंकि गत्यर्थक धातु है श्रीप्री गतऊ तो गत्यर्थक धातुओं का ज्ञान अर्थ भी होता है तो जो ज्ञान को देने वाला है ज्ञान का दाता है ये दूसरा अर्थ से प्रदान उनका महर्षि ने किया उस परमात्मा को जो इस समस्त गतिशील जगत को भी गति देने वाला है एक दिशा देने वाला है व्यवस्थित ढंग से चलाने वाला है उस परमात्मा को और जो ज्ञान का देने वाला है उस परमात्मा को श्री प्रदानम अग्निम जो अग्नि है उसको जो अग्रणी है जो आगे रहता है जो हमारा पुरोहित है जो हमारे लिए प्रेरक है जो हमारे लिए मार्गदर्शक है ऐसे उस परमात्मा को एक और विशेषण दिया द्रविणोदाम द्रविण कहते हैं धन को जितना भी धन संपत्ति ऐश्वर्य है इसमें फिर समस्त चीजें आ गई उसको जो देने वाला है उस परमात्मा को मंत्र को अब एक भाव फिर से देखेंगे इसका विषय हे मनुष्यों तम ईड़ता उस परमात्मा की स्तुति करो और आरी उसको प्राप्त हो किसको जिसको देवा धारयन देवता लोग धारण करते हैं किसको जो प्रथमम है यज्ञ साधम है जो आहुतम है रुजे रिंज सानम है जो ऊर्जा पुत्रम है जो भरतम है जो सिप्तदानुम है जो अग्निम है और जो द्रविणोदाम इन सब स्वरूपों वाले परमात्मा को देवता लोग धारण करते हैं और तुम भी उसकी स्तुति करो और उसको प्राप्त हो इन सब प्रसंगों को वेद के स्तुति वचनों को देख करके जो बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं पहली बात तो जिसको हम जिसकी हम स्तुति करते हैं और स्तुति जिन शब्दों से करते हैं उसके जिस विशेषण को प्रयुक्त करते हैं उस चीज को हम उससे प्राप्त करना चाहते हैं जब जब जिस वस्तु व्यक्ति को से हम कुछ चाहते हैं तत्संबंधित कुछ विशेषण उसकी प्रशंसा स्तुति हम करते हैं उसको उस रूप में देखते हैं उस गुण से युक्त तो उस चीज को देने वाला देखते हैं तो जब जब स्तुति करते हैं तो उन उन गुणों को देखते हैं जो हम पाना चाहते हैं तो स्तुति के साथ में एक बात स्वतः जुड़ जाती है कि हम उस परमात्मा से या इस इस प्रकार की स्तुति जिसकी की जा रही है उससे वो चीज प्राप्त करना चाहते हैं जिन जिन चीजों की यहां बात की गई परमात्मा इन सबका देने वाला है तो ये सब चीजें संसार में हमें दिखाई देता है जो स्तुति नहीं करते हैं उनको भी मिल रही हैं पहले हमारे मन में संबंध क्या जुड़ गया स्तुति हम करते हैं इन इन गुणों वाले की वो गुण हम प्राप्त करते हैं इसका मतलब स्तुति करने से वो चीजें हमें प्राप्त होती हैं वो चीजें हमें प्राप्त होती हैं ये संबंध जुड़ गया और फिर हमने ये संबंध जोड़ लिया कि जो स्तुति करता है उसे ही ये चीजें प्राप्त होती हैं लेकिन संसार में दिखाई देता है जो परमात्मा की इस रूप में स्तुति नहीं करते हैं उन्हें भी ये चीजें प्राप्त होती हैं तो अगला प्रश्न फिर स्वतः आता है फिर स्तुति किस लिए पुरुषार्थ से ये चीजें प्राप्त होती हैं तो फिर स्तुति किस लिए इन सब विशेषणों को देखते हुए जब हम इस ढंग से स्तुति करते हैं उस समय हम ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि ये चीजें परमात्मा ने हमें दी हैं इनके पीछे परमात्मा है जो व्यक्ति स्तुति नहीं कर रहा है लेकिन पुरुषार्थ कर रहा है और इन धन धान्य आदि को प्राप्त कर रहा है वो इन चीजों को देने वाले के रूप में परमात्मा को स्वीकार नहीं कर रहा होता है वो ये मानता है कि इसे मैंने प्राप्त किया है यदि कुछ अधिक सज्जन है अधिक भावना वाला है तो वो उन सबको भी ध्यान रखता है जिनके सहयोग से जिन मनुष्यों के सहयोग से उसे वो चीजें प्राप्त हुई होती हैं जो असंवेदनशील है वो सब चीजें स्वयं प्राप्त की हुई समझता है जिनसे प्राप्त करता है माता पिता गुरुजनों से सहयोगियों से मित्रों से उनको फिर बाद में भूल जाता है उनका उनकी उपेक्षा कर देता है उनका वो अपमान करने लग जाता है जो व्यक्ति स्वयं को ही उन सबका प्राप्त करता मानता है मैंने ही पुरुषार्थ से प्राप्त किया तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होगा और जो भावना वाला है उसका व्यवहार अलग होगा वो समझेगा कि नहीं दूसरों का भी इसमें बहुत सहयोग है वो उस तरह से गर्भ में नहीं जाएगा जैसे पहला वाला व्यक्ति चला जाता है और उसका व्यवहार भी भिन्न होगा इतना मात्र सोचने से कि मैंने जो ये चीजें प्राप्त की हैं इसमें दूसरों का भी सहयोग है केवल इतना सा ज्ञान बदलने से अहंकार भी कम रहता है और व्यवहार भी भिन्न प्रकार का होता है और अधर्म अन्याय की तरफ हम नहीं जाते जो ईश्वर को नहीं मानता है वो भी इतना कर लेता है उतना भी अच्छा है उसके लिए लेकिन इतना करने मात्र से भी पूरी बात नहीं बनती उसे फिर भी ये लगता है कि दूसरों ने मेरे लिए इतना इतना सहयोग किया बाकी तो मैंने ही किया है बाकी तो मेरे ही पुरुषार्थ से हुआ है वहां भी अहंकार रहेगा वहां भी व्यवहार उचित नहीं होगा लेकिन जब इस ढंग से वो साधक सोचता है आर्य सोचता है कि ये तो सारी चीजें पीछे से परमात्मा के द्वारा आ रही हैं उसी ने बनाई है वो ही पालन कर रहा है और अधिकांश सहयोग उसी परमात्मा का है इस ज्ञान से फिर उसकी दृष्टि बदल जाएगी इस स्तुति और इन विशेषताओं को देख करके हम जब ये तुलना करते हैं कि जो स्तुति नहीं करता है वो भी तो इन चीजों को प्राप्त करता है तो हमारा दिमाग वहां ये काम करता है कि हम स्तुति से ये चीजें जैसे प्राप्त कर रहे हों स्तुति के द्वारा ये चीजें मिल रही हों ये हमारा एक ज्ञान काम करता रहता है जबकि वास्तविकता यह है कि स्तुति मात्र से ये चीजें नहीं मिलती हैं स्तुति से स्तुति का ये प्रयोजन है ही नहीं कि ये वस्तुएं हमें प्राप्त हों स्तुति का प्रयोजन नहीं है प्रार्थना का प्रयोजन है प्रार्थना से हम उस व्यक्ति से वो वस्तुएं प्राप्त करते हैं स्तुति से वस्तुओं को प्राप्त करना प्रयोजन नहीं होता है और जहां केवल स्तुति हो रही हो और पाना भी चाहता हो तो वहां वो स्तुति करता हुआ प्रार्थना भी साथ में कर रहा है वो स्तुति प्रार्थना के लिए कर रहा है पर हमारा संबंध क्या जुड़ जाता है स्तुति से ये चीजें मिलती हैं यदि स्तुति से ये चीजें मिलती हैं तो जो स्तुति नहीं कर रहे हैं उनको कैसे ये चीजें मिल रही हैं कोई सोचता है कि वे स्तुति करने से कुछ ये अधिक अच्छी मिलती होंगी तो स्तुति करने वाला देखता है मैं स्तुति कर रहा हूं और ये चीजें मेरे पास तो कम स्तर की हैं और जो स्तुति नहीं कर रहा है उसके पास मेरे से अधिक अच्छी है तो उसका वो भ्रम भी फिर टूटता है या प्रश्न बना रहता है ये चीजें तो हमारे पुरुषार्थ से हमें मिलेंगी जो करेगा उसको ईश्वरीय व्यवस्था से वो सब चीजें मिलेंगी लेकिन स्तुति साथ में होगी तो उसको ये बोध रहेगा कि ये चीजें उस परमात्मा की सहायता से मिल रही हैं और ये ज्ञान उसके जीवन को एकदम अलग ढंग से परिवर्तित करेगा उसमें अहंकार नहीं रहेगा उसका अन्यों के साथ व्यवहार अलग रहेगा उसमें विनम्रता रहेगी अगली बात हम स्तुति का संबंध केवल वस्तुओं के साथ में जोड़ देते हैं यह मंत्र में महर्षि ने जिस ढंग से व्याख्या की है एकदम स्पष्ट है कि तम ईड़ता उसकी स्तुति करो और आरी उसको प्राप्त हो जो पुरुषार्थ करके इन चीजों को प्राप्त करता है धन धान्य को वो इन चीजों को तो प्राप्त कर लेता है लेकिन इन चीजों को देने वाले परमात्मा को प्राप्ति की ओर वो नहीं बढ़ सकता जो स्तुति कर रहा है वो केवल इन वस्तुओं के लिए स्तुति नहीं कर रहा है वो इन वस्तुओं को देने वाले परमात्मा के लिए स्तुति कर रहा है या प्राप्त होने के लिए ये वस्तुएं नहीं कही गई उस परमात्मा को प्राप्त होना है जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं उसको प्राप्त हो ये चीजें तो पुरुषार्थ से भी मिल रही हैं अंतर इसी रूप में हमें देखना होगा जो पुरुषार्थ से ये वस्तुएं प्राप्त करते हैं वो केवल वस्तुएं प्राप्त करते हैं व्यवहार में भी कुछ दोष रहेंगे उनके और जो स्तुति भी कर रहा है वो इन वस्तुओं को प्राप्त करते हुए व्यवहार और अपनी आंतरिक भावना को भी अच्छा रखता है और उसे पता है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है परमात्मा इन सब चीजों को भी देता है लेकिन इससे अन्य चीजों को भी देता है वो स्तुति से प्राप्त होगी स्तुति से हमारी स्थिति ऐसी बनेगी और वो हमें प्राप्त होगी इसलिए ईश्वर का आदेश है तम ईड़ता उसकी स्तुति करो और स्तुति करके उसको प्राप्त करो उसके द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को पा करके ही संतुष्ट मत हो जाओ उसके द्वारा प्रदत्त वस्तुएं भी अमूल्य हैं उनसे हमें बहुत सुख मिलता है लेकिन उस परमात्मा को पाके हम इनसे भी कुछ अधिक प्राप्त कर सकते हैं इसलिए तम ईड़ता और आरी उसको प्राप्त हो देव लोग इसी शैली से चलते हैं देवताओं ने उसको इसी ढंग से धारण किया है हमें भी उसी तरह से चलना है तभी हम देव बनेंगे और जीवन में कुछ अतिरिक्त प्राप्त कर सकेंगे भौतिक संसाधनों के अतिरिक्त जो प्राप्त करना है उसका मार्ग है स्तुति ये आज के आर्य विनय आर्यों के विनम्रता निवेदन भाव क्या होना चाहिए वो महर्षि ने इस मंत्र के माध्यम से प्रकट किया आप में से कोई मंत्र के बारे में कुछ पूछना चाहते हो या कोई बात पूछना चाहते हो शांति पाठ शीघ्रम करणीयम भवती ठीक है आप सोचते हैं मैं थोड़ी देर रुकता भी हूं और पहले से ये क्रम है अपना पहले से सोच के रखिए जैसे ही मैं बोलता हूं आपका हाथ आना चाहिए पूछिए तो, मिलता है का फल तो वो है कि उसको प्राप्त करना मतलब अहंकार करना या फिर विनम्रता तो आना ये सब सारी चीजें अगर हम प्रार्थना के रूप में देखें तो प्रार्थना में भी वहां पे जो फल मिलता है वो भी वही पुरुषार्थ करने के बाद जो मिलता है वो मिलता है और जो प्रार्थना करने का जो फल मिलता है जो बोलने का उस तरह से वो भी वही मिलता ही अहंकार करना विनम्रता होना आदर आना तो फिर दोनों में फिर अंतर किस तरह से स्तुति का फल प्रीति है रीति है बस इतना ही है हम उसकी स्तुति करें और उसको प्राप्त होवें स्तुति से हमारे मन में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होगा क्योंकि हम उसको अच्छा मान रहे हैं और ज्ञान हुआ तो हम उसको प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे स्तुति का केवल इतना प्रयोजन है प्रीति पैदा होगी और वो हमें कर्म के लिए प्रेरित करेगी समीहा शुरू हो जाएगी उसको प्राप्त करने की चीजें हो जाएंगी बस इतना ही है और उसे हमें प्राप्त करना है जिसकी हमें स्तुति करनी है उससे इन्हीं वस्तुओं को नहीं प्राप्त करना है जिन जिन चीजों को वो देता है उसको प्राप्त करना है वो वस्तु वो परमात्मा उसको प्राप्त करना है और वस्तुओं की जो प्राप्ति है वो प्रार्थना का फल है विनम्रता वो प्रार्थना का फल है स्तुति करने से भी हमारे मन में ये पता लगता है कि वो ऐसा ऐसा है अभी प्रार्थना नहीं की जा रही है हमें केवल ये ज्ञान हुआ है कि जो चीजें हमें मिल रही हैं उसके पीछे भी परमात्मा है इस ज्ञान से हमारा अहंकार कम होगा ज्ञान से और प्रार्थना में जो विनम्रता आती है चूंकि हम मांगते हैं हम छोटे समझ के बड़े से मांगते हैं तो वहां एक विनम्रता अलग ढंग से आती है अहंकार की न्यूनता वहां अलग ढंग से होती है और स्तुति करते हुए जो अहंकार की न्यूनता होती है वो भिन्न ढंग से होती है और जितनी प्राप्ति है वो हमेशा पुरुषार्थ से ही होगी केवल इच्छा से नहीं होगी पुरुषार्थ हमें परमात्मा को पाने के लिए भी करना होगा उसके लिए योगाभ्यास है और प्रार्थना का अतिरिक्त फल भी है वो सहायता भी देता है और जैसा हमारा कर्माशय है हम उसके अनुसार कुछ प्राप्त कर सकते हैं प्रार्थना करके हम अपने कर्माशय का फल किसी भिन्न रूप में भी पा सकते पाना चाह सकते हैं और दूसरे रूप में भी चाह सकते हैं तो प्रार्थना करते हुए जो हमारे कर्माशय के अनुरूप फल हमें प्राप्त होगा ईश्वर के माध्यम से उसमें भी प्रार्थना का प्रयोजन होता है हमारे कर्मानुसार और अतिरिक्त सहायता भी ईश्वर से हमें प्राप्त होती है तो दोनों को अलग अलग ही हमें देखना है उसको वो प्राप्त नहीं होगी कर्माशय वाली सहायता जो भी व्यक्ति कुछ भी कर्म कर रहा है कुछ ना कुछ इच्छा लेकर के तो कर ही रहा है कोई भी कर्म कर रहा है वो लौकिक भी फल की प्राप्ति के लिए कामना से ही करता है वो वो चीजें उसको प्राप्त होंगी प्रार्थना में हम कुछ विशेष चीज चाहते हैं विशेष रूप से और प्रयोग करते हैं वो हमें प्राप्त होगी उसको भी प्राप्त होगी जो पुरुषार्थ कर रहा है इसको विशेष प्राप्त होगी अतिरिक्त भी प्राप्त होगी और इच्छित जैसा जैसा चाहता है वैसी वैसी प्राप्त होगी नहीं तो ईश्वरीय व्यवस्था से सामान्य कामना से जो होता है वो मिलता रहेगा यहां मुख्य प्रयोजन स्तुति का परमात्मा के प्रति प्रीति और ये ज्ञान होना है कि इन सब चीजों के पीछे परमात्मा देने वाला है और उसका भी अंततः प्रयोजन यही मिलेगा स्तुति का भी कि ताकि हम उस ओर बढ़ें फिर और उसको पाने का प्रयत्न करें वो जिन चीजों को दे रहा है वहीं तक सीमित ना रह जाए उस देने वाले को भी पाने का प्रयास करें वहां कुछ और भी हमें मिलना है इन इस वैभव के अतिरिक्त भी वहां कुछ हमें मिलना है इसलिए ये स्तुति समझे वस्तु की परिभाषा जिसका भी अस्तित्व है जिसका भी अस्तित्व है वो वस्तु है हम उसको नकार नहीं सकते इसको दूसरे ढंग से हम देखें वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से तो द्रव्य भी होता है गुण भी होते हैं और कर्म भी होते हैं द्रव्य जितने हैं उनमें कुछ मूर्त हैं कुछ अमूर्त हैं जैसे आत्मा परमात्मा ये भी द्रव्य हैं लेकिन अमूर्त हैं लेकिन जो गुण है द्रव्य को हम मूर्त कह सकते हैं लेकिन कर्म को हम मूर्त नहीं कह सकते हैं इसी तरह से गुणों में जो इस प्रसंग में मैंने ज्ञान शब्द कहा था आनंद है आनंद को हम मूर्त नहीं कह सकते हैं ज्ञान को हम मूर्त नहीं कह सकते श्रद्धा को हम मूर्त नहीं कह सकते भूख भुभुक्षा सुख दुख इनको हम मूर्त नहीं कह सकते न्याय दर्शन में भी ये प्रसंग आता है इनको अमूर्त चीज माना गया है ये भावनात्मक है अनुभवात्मक है अनुभूति के स्तर पर है तो जो मूर्त चीजें हैं जो बनी है कार्य जगत है उसको तो वो देने वाला है ही इन अमूर्त चीजों को भी देने वाला वो परमात्मा है उसको कह लीजिए बिल्कुल कह सकते हैं उसको पदार्थ में तो द्रव्य गुण कर्म आदि सब आ ही जाते हैं उसमें वस्तु मात्र पदार्थ कोई जिसका अस्तित्व है विद्यमानता है वो पदार्थ है वस्तु है और किन्हीं को कुछ पूछना हाँ हाँ इनका प्रश्न यह है कि यदि ये उपदेश ईश्वर ने दिया होता जैसा मैंने भी कहा कि ईश्वर उपदेश दे रहा है तो वो ये कहता कि मेरे मेरी स्तुति करो ईश्वर हमें अगर सीधा संबोधित करता तो मेरी स्तुति करो ये होता लेकिन यहां लिखा है तम उसकी स्तुति करो ऐसा लगता है जैसे कोई अन्य व्यक्ति बोल रहा है अन्य के लिए कह रहा है कि उसकी स्तुति करो ये वेद के अंदर सब पुरुषों के अंदर ये प्रयोग होते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष यूं व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो सब तरह हो सकता है उसमें पर परमात्मा सदा स्वयं के द्वारा ही कथन करते हुए नहीं कर रहा होता वो किसी विद्वान के मुख से भी कहलवाता है यहां आप समझ सकते हैं कोई विद्वान वेदता ईश्वर को जानने वाला हमें प्रेरित कर रहा है लेकिन वो उपदेश ईश्वर का ही है कि हे मनुष्यों तुम उसकी स्तुति करो परमात्मा अपने लिए भी बोलता है अन्य पुरुष में भी बोलता है अन्य के माध्यम से भी ये वेद की शैली है ये एक काव्य है इसलिए यहां ये हम आग्रह पूर्वक नहीं कह सकते कि परमात्मा ने कहा है तो वो सदा जो भी उपदेश देगा वो अपनी तरफ से देगा कि मेरी स्तुति करो उसकी स्तुति करो और इसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि परमात्मा ने उपदेश दिया ठीक है आप खोजो ये इस सबके पीछे कौन विद्यमान है जो भी विद्यमान है उसको खोज लो और जो होगा उसकी स्तुति करो मैं ये आग्रह नहीं कर रहा कि मेरी करो लेकिन आप खोजोगे तो आपको वो वही मिलेगा जो मैं हूं यानी परमात्मा ठीक है तुम उसकी स्तुति कर लो जो इन सबके पीछे है खोज लो कौन है कौन मिल जाता है जो भी मिल जाता है उसकी स्तुति कर लो वो कौन मिलेगा वो परमात्मा ही मिलेगा शांति द्यौः शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्व शांति शान्तिरेव शांति सामा शान्तिरेधि शांति शांति शान्ति शान्तिः सर्वेभ्यो नमः सबको